मुंह बोले बेटों को उनके बापों की नस्बत से पुकारो यही अल्लाह ताला के नज़दीक ज़्यादा इंसाफ वाला तरीक़ा है चुनाचे अगर तुम उनके बापों को नहीं जानते तो वो तुम्हारे दीनी भाई और तुम्हारे दोस्त हैं और तुम पर कोई गुनाह नहीं जिसमें तुमने गलती की है लेकिन जिसका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया और अल्लाह ताला हमेशा से बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है